भले ही सुमोना अरोरा की जान बचा ली गई थी और बैंक के सीरियल मर्डर केस के मुजरिम रोनित बनर्जी को अरेस्ट किया जा चुका था लेकिन फिर भी अभी पुलिस को काफी काम करना था सबसे पहले तो रोनित से पूछताछ करनी थी उसका बयान दर्ज करना था सारे सबूत और गवाह तैयार करने थे और रोनित का मेडिकल टेस्ट कराना था और भी बहुत काम था केस सॉल्व होने के बाद भी जो भी फॉर्मेलिटी थी वो सब पूरी करनी थी इसलिए अभी भी पुलिस को चैन की सांस नहीं थी डीएन नगर के सभी इन्वेस्टिगेटर्स अब तो विक्रांत की भी जिम्मेदारी खूब बढ़ गई थी पहले जब वो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटर था तब तो कोई भी केस सॉल्व करने के बाद उसे रेस्ट मिल जाता था लेकिन अब चूंकि विक्रांत टीम लीडर बन चुका है ऐसे में केस सॉल्व करने के बाद भी उसके जिम्मे बहुत सारे काम है मुजरिम से पूछताछ करने की जिम्मेदारी नैना के ऊपर थी वही रोनित बैनर्जी से पूछताछ करके उसका बयान दर्ज करवा रही थी रोनित रंगे हाथ पकड़ा गया था ऐसे में उसने पुलिस को सारी सच्चाई बतानी शुरू कर दी थी वैसे तो विक्रांत को पहले से ही सारी कहानी के बारे में पता था लेकिन फिर भी जब रोनित ने सारी कहानी बताई तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था आज एक बार फिर से डीसीपी डिसूजा की कही हुई बात सच होती दिख रही थी डीसीपी डिसूजा साहब हमेशा कहा करते थे कि हर जुर्म के पीछे किसी की आंखों से बहा हुआ काफी आंसू होता है सच में अगर रोनित बनर्जी के साथ यह हादसा ना हुआ होता तो उसकी जिंदगी कुछ और ही होती रोहित ने अपने बयान में बताया कि जब उस दिन बस एक्सीडेंट में उसकी माँ की मौत हो गई तो उसके बाद उसके पिता की भी हालत खराब होने लगी वो माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगे थे वो कहते थे कि अगर मैं उस दिन दोनों को लेने के लिए बदलापुर चला गया होता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता इसी दुख में रोनित के पिता को गहरा सदमा लगा था वो दिन पर दिन बीमार होते चले गए और फिर धीरे धीरे उनका बिजनेस भी चौपट होने लग गया जब बिजनेस डूब गया तब वो और ज्यादा बीमार हो गया और फिर अंत में उसकी भी जान चली गई पिता की मौत के बाद रोनित को और गहरा सदमा लगा रोनित को यही लगता था कि उस दिन बस में बैठने की वजह से और माँ को जो खाना नहीं मिला उसी वजह से उसकी माँ की जान चली गई रोनित का आज भी यही मानना है कि अगर उस दिन बस में फंसे दूसरे पैसेंजर्स ने उसका खाना ना छीना होता तो शायद आज उसकी माँ जिंदा होती और उसके बाप को भी कुछ ना हुआ होता उसकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली होती लेकिन एक एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी लेकिन पहले उसकी माँ की मौत हुई और फिर बाप का भी साया छूट गया सब कुछ बदल चुका था उसी वक्त रोनित ने सोच लिया था कि वो उन सभी को भूख से तड़पाएगा जिनकी वजह से उनकी माँ की जान गई थी इसके बाद जब रोनित तकरीबन 26 या 27 साल का हुआ तब उसने अपना बदला लेना शुरू किया उसने पहले कत्ल के अंजाम देने से पहले खुद के अंदर काफी बदलाव लाए सबसे पहले तो उसने खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया वो अकेले ही रहने लग गया था ना कोई दोस्त ना ही कोई रिश्तेदार किसी से भी मतलब नहीं रखता था उसने अपने पिता की ही बसाई हुई कॉलोनी में अपना ठिकाना बनाया और फिर उसने ही एडवांस में गैरेज के नीचे बेसमेंट बनवाया था बेसमेंट के भीतर उसने एक और कमरा बनवा रखा था वहां पर उसने वैक्यूम सील बनाने वाली एक मशीन भी लगवाई थी रोनित ने प्रॉपर तरीके से पूरी तैयारी की थी उसने अपना सबसे पहला शिकार मिस्टर मेहता को ही बनाया क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले रोनित के खाने का बैग उठाया था और उन्होंने ही रोनित की माँ का खाना छीना था ऐसा रोनित का मानना था लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका रिवेंज प्लान इतना सक्सेसफुल रहेगा उसने पहले मिस्टर मेहता को किडनैप किया और फिर उसे ले जाकर अपने बेसमेंट में बने कमरे में लॉक करके छोड़ दिया वहां पर उसको बिना खाना और पानी के मरने के लिए छोड़ दिया था इस बीच रोनित उन्हें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भी दिया करता था जब मिस्टर मेहता को थोड़ा होश आता था और जब वो दरवाजा पीटते हुए खुद को बचाने के गुहार लगाते थे तब रोनित बाहर बैठकर उसकी चीख पुकार सुनता रहता था उससे उसको खुशी मिलती थी मिस्टर मेहता वैसे भी वृद्ध थे तो जल्दी ही उनकी हालत खराब होने लगी थी हफ्ते भर के भीतर ही मिस्टर मेहता की मौत हो गई जब दो तीन दिन तक मिस्टर मेहता के दोबारा से चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आई तब रोनित को कंफर्म हो गया कि उसकी जान जा चुकी है फिर उसने उनकी डेड बॉडी को बाहर निकाला और फिर वैक्यूम सील मशीन में रखकर उसे पैक कर दिया फिर एक सूटकेस में भरकर उसे बैंक के लॉकर रूम में ले जाकर रख दिया यहाँ पर भी विक्रांत का शक सही निकला रोनित इस वजह से सबको लॉकर रूम में रख रहा था क्योंकि उसकी माँ ने ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लॉकर रूम शुरू करवाया था वो अपनी माँ को श्रद्धांजलि देना चाहता था इसी तरह उसने अपने बाप को श्रद्धांजलि देने के लिए ही उनके द्वारा बनवाई गई प्रॉपर्टी में ही विक्टिम्स की जान ली थी ऐसा ही वो सभी विक्टिम्स के साथ करता था पहले उन्हें किडनैप करके बेसमेंट में ले जाता था और फिर उन्हें रूम के अंदर बंद कर देता था और फिर दरवाजे के पास बैठकर अंदर बंद विक्टिम के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनता था जब एक या दो हफ्ते बाद अंदर से आवाज आनी बंद हो जाती थी फिर वो दरवाजा खोलकर डेड बॉडी बाहर निकालता था और फिर उसे वैक्यूम पॉलिथिन में पैक करके बैंक के लॉकर में रखाता था मिस्टर मेहता की मौत के बाद उसका हौसला और बढ़ता चला गया सेम यही चीज उसने बाकी के विक्टिम्स के साथ भी करने का प्लान बनाया रोनित को भले ही साइको किलर कहा जा सकता है लेकिन फिर भी वो ये काम बड़ी सावधानी से कर रहा था उसे ये बात पता थी कि अगर वो जल्दी मर्डर करने लग जाएगा तो फिर जल्दी ही पुलिस की पकड़ में भी आ सकता है इसीलिए उसने एक मर्डर करने के बाद एक साल का गैप दिया मर्डर को अंजाम देने के बाद वो आराम से नॉर्मल जिंदगी जीता था वो अपने बुक स्टोर में जाकर बैठता था ताकि कभी किसी को उस पर कोई शक ही ना हो एक साल के अंतराल में वो अपने नेक्स्ट टारगेट पर नजर रखता था उसकी एक एक गतिविधियों पर नजर रखता था और फिर अपने टाइम से उन्हें किडनैप कर ले जाता था इस तरह से हर साल वो एक मर्डर करता आ रहा था सुमोना अरोड़ा उसका आखिरी शिकार थी इससे पहले वो छह लोगों को सेम तरीके से भूख से तड़पाकर मार चुका था पुलिस को एक हैरान कर देने वाली बात ये पता चली कि भले ही रोनित सबको मारकर बैंक के लॉकर रूम में रख रहा था लेकिन उसे बैंक के रॉबरी केस के बारे में कुछ भी नहीं पता था उसे ये भी नहीं पता था कि बैंक के लॉकर रूम में उसके द्वारा रखी गई डेड बॉडीज पुलिस के हाथ लग चुकी हैं। वैसे उस वक्त पुलिस ने भी थोड़ी सावधानी रखी थी बैंक रॉबरी वाली बात तो बाहर आ चुकी थी लेकिन वहाँ डेड बॉडी मिलने वाली बात इन लोगों ने छुपा ली थी रोनित का भी खेल तभी से बिगड़ना शुरू हुआ बैंक में डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने इस केस को सीरियसली लिया और इस पर काम करना शुरू कर दिया था लेकिन उधर रोनित को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी सो वो अपने पुराने तरीके से ही काम कर रहा था उसने सुमोना को किडनैप करके गैरेज के बेसमेंट में बंद कर दिया था सब कुछ सही चल रहा था लेकिन तभी स्पेशल टास्क की टीम उससे पूछताछ करने के लिए उसके बुक स्टोर पहुंच गई स्पेशल टास्क वाले तो रोनित से सिर्फ कैजुअल पूछताछ करने के लिए गए हुए थे लेकिन उन्हें देखकर रोनित घबरा गया रोनित ने उनके ऊपर जहरीली गैस से हमला कर दिया स्पेशल टास्क वाले वहीं बेहोश होकर गिर पड़े उसके बाद रोनित ने बुक स्टोर की सीढ़ी पर बनी खिड़की से निकलकर अमरूद के पेड़ के सहारे नीचे उतर गया वहां पर गलती से उसने अपना फेस मास्क छोड़ दिया था और फिर वहीं से विक्रांत को उसके भागने का शक हुआ रोनित को खुद के पकड़े जाने या मारे जाने का कोई गम नहीं था वो बस किसी भी हालत में अपने आखिरी दुश्मन सुमोना अरोरा को मौत की नींद सुलाना चाहता था बुक स्टोर से भागने के बाद वो सिर्फ पुलिस को चकमा देने के लिए भागता हुआ गोरेगांव रेलवे स्टेशन के करीब गया और वहां एटीएम से पैसे निकाले ऐसा उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि पुलिस उसके एरिया से बाहर निकल आए उसका प्लान कुछ हद तक कामयाबी रहा पुलिस तुरंत ही यहाँ से निकलकर गोरेगांव रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई थी उधर रोनित वहां से भागकर सीधे ही अपने बेसमेंट के पास पहुंचा उसने सुमोना को जिंदा ही वैक्यूम पोलिथिन में पैक करने का प्लान बना लिया था अगर वहां पर विक्रांत ने पहुंचने में थोड़ी देर कर दी होती तो शायद उसने सुनोना का भी मर्डर कर दिया होता जब रोनित वापस बेसमेंट के पास पहुंचा तो उसने वहां गैरेज के पास अमित और बाकी के अन्य इन्वेस्टिगेटर्स को खड़े देखा उसने तुरंत ही एनेस्थीसिया का गैस बोतल निकालकर उनके ऊपर अटैक कर दिया जब ये दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े तब रोनित ने उनका गन अपने हाथ में ले लिया और फिर सीधे ही बाकी के लोगों को जान से मारने के लिए निकल पड़ा लेकिन फिर ना जाने कैसे विक्रांत ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और फिर वो विक्रांत के हाथों पिट कर घायल हो गया और फिर पकड़ा गया जब रोनित से ये सवाल पूछा गया कि विक्रांत ने उसे कैसे पकड़ा तो इसका जवाब वो नहीं दे सका अभी तक उसे ये बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर कैसे विक्रांत के ऊपर एनेस्थीसिया की गैस का कोई असर नहीं हुआ और कैसे उसके ऊपर बंदूक की गोली का भी कोई असर नहीं हुआ रोनित बहुत आश्चर्य में था विक्रांत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए रोनित को जीवन का उपदेश दे डाला सब किस्मत का खेल है तुमने जो कुछ भी किया उसका हिसाब करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा था मैं तो बस एक जरिया था बाकी जो जैसा करता है उसे वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ता है अब रोनित के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था सारी बात खत्म होने के बाद विक्रांत ने रोनित से सवाल किया अच्छा रोनित ये बताओ सुमोना अरोड़ा को मारने के बाद तुम क्या करते ये तो तुम्हारा आखिरी शिकार थी ना इसको मारने के बाद तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाता तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति भी मिल जाती लेकिन फिर उसके बाद क्या अब आगे तुम क्या करने वाले थे रोनित के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था वो बस चुपचाप विक्रांत की आंखों में झांक रहा था मानो वो कहना चाह रहा था कि सुमोना को मारने के बाद उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है उसे फिर किसी चीज की परवाह नहीं होती फिर जो भी होता जैसा भी होता हर कंडीशन में वो खुश रहता असल मायने में उसे जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं थी विक्रांत भी उसे बड़े ध्यान से देखने लगा उसे यही लग रहा था कि वाकई में हर केस के पीछे एक दुख भरी कहानी होती है रोनित भी हाथ काटने वाले केस की मुजरिम आशिमा या बैंक के रॉबरी केस वाले मुजरिम की तरह ही बहुत गहरे सदमे से गुजरा था लेकिन अगर इन्हें सही समय पर कोई सही रास्ता दिखाने वाला मिल गया होता तो शायद ये केस ना हुआ होता और शायद इतना बड़ा सीरियल मर्डर केस भी नहीं हुआ होता और आज रोनित बनर्जी भी कहीं अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा होता क्योंकि दुख किसके जीवन में नहीं है हर इंसान किसी न किसी समस्या से किसी न किसी दुख से लड़ रहा है और हर इंसान के दुख का कारण कहीं ना कहीं दूसरा इंसान ही है लेकिन इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि सब इंसान अपना बदला लेने के लिए निकल पड़े जब रोनित की माँ बस में बैठकर अपनी आखिरी सांस ले रही थी और रोनित के सिर पर अपना हाथ फेरा था तब उनकी यही मंशा थी कि उनका बेटा एक खुशहाल जिंदगी जिए उसे कभी कुछ तकलीफ ना हो उसकी माँ भी कभी ये नहीं चाहती रही होगी कि उसका बेटा उसकी मौत का बदला ले बैंक का सीरियल मर्डर केस सॉल्व हो चुका था रोनित के साथ जो हुआ था वो सही था या गलत ये कोई नहीं जानता लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो गलत था बिल्कुल गलत